बच्चा मर जाता है औषधि करते हुए भी डॉक्टर वही जरूर है औषधि दे रहे हैं पर रोग नहीं जाता बालक से लेक शरण पितरो सिंह नारद से चागद मुदन मज्जतो नौ तप्त से तत्व विधर यजान जशिष्ट वोचन मृताम तदुपेक्षिता आप जब उपेक्षा कर दे तो रक्षा कौन करेगा एक महात्मा सुनाते थे देखो बढ़िया बात एक राजा के पुत्र ने था और उसने एक तांत्रिक आया और उसने कहा राजन हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके पुत्र तो हो बोलो क्या करना पड़ेगा कि हमारे भैरों के लिए आपको एक भेंट देनी पड़ेगी एक पुरुष की भेंट देनी पड़ेगी आपके पुत्र होगा अच्छा राजा ने डोरी पिटवा दी कि भाई जो धन संपत्ति जितना चाहो लाख दो लाख जितना रुपया चाहो अपना एक बालक हमको कोई देगी तो अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं कौन दे पर कहते हैं ब्राह्मण बहुत दरिद्री था उसके बच्चे कई थे दरिद्री था पालन पोषण कर नहीं पाता था उन दोनों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा कि चलो राजा से इतनी संपत्ति मिलेगी तो और बालकों की तो रक्षा कर लेंगे एक दे ही दो तो एक बीच का बालक सबसे छोटे को माता ने नहीं दिया बड़े को पिता ने नहीं दिया एक बीच का जो बालक था ब्राह्मण का बालक उसको राजा को दे दिया लाख दो लाख अपने रुपया ले लिए उस बच्चे को अब अमु को तिथि को वो भेड़ों की भेंट उसको देनी है तो एक कमरे में रख दिया उसको भोजन दे दिया जाता था उसकी रक्षा के लिए बाहर एक पुरुष खड़ा रहता था और जिसको जब भूख प्यास लगे जो वस्तु मांगे उसको दे दिया वो बच्चा क्या करता था वो मकान के भीतर बैठ करके चार रेखा खींचा करता चार रेखा खींच करके और फिर तीन को मिटा देता था एक रेखा का ध्यान करता था एक दिन राजा ने पूछा द्वारपाल से कि अरे वो बालक जो है किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहा है क्या करता रहता है जिन्हें कहा महाराज वो पहले चार रेखा खींचता है सब प्रातः काल उठते ही और चार रेखाओं में से तीन को वो मिटाई देता है और एक रेखा का ध्यान करता रहता है राजा ने कि ये क्या बात है चल करके देखें राजा ने जाकर के देखा तो एक रेखा खिंची हुई थी तीन मिटी हुई थी वो एक रेखा का ध्यान कर राजा ने कहा ओ बालक हो बच्चे ये बताओ ये तुमने चार रेखा खींची है तीन मिटा करके एक का क्यों दान कर उसने कहा राजन ये बात है संसार में चार रक्षक माने जाते हैं एक माता दूसरा पिता तीसरा राजा तो माता पिता ने तो धन लेकर के हमको भेंट देने के लिए दे दिया दो रेखा हमने वो मिटा दी अब तीसरा राजा रक्षक होता है तो आप भी भेंट देने वाले हो हमारे हमने वो भी मिटा दी और चौथी परमात्मा पे विश्वास है वो मेरी रक्षा करेगा तुम उसका मैं ध्यान कर रहा हाँ? राजा ने कहा ऐसा सुंदर बुद्धिमान बालक इसको तो हम भेंट चढ़ावें और दूसरे बच्चे की आशा करें हमसे ज्यादा गुण तो कौन होगा अरे इसी को कौन हम अपना बालक में भगवान ने फौरन अंतकरण बदल दिया और तत्काल उसको स्नान करा करके उसको जो है हाथी पे बिठा करके सवारी निकाली उसकी और उसी को आगे अपने राज्य का अधिकारी बनाया तो भगवान जब रक्षा करते हैं ऐसा कौन करता बाल से नेह शरणम पितरो सिंह नार्त चागत मुदन्नति मज्जतो नऊ प्रहलाद जी कहते कहा तो ये संसार के सुख विषय सुख मृग कृष्णा के रूप कहा ये शरीर जिसमें अनेक रोग उत्पन्न होते रहते हैं तो भी कामानलम मतलब समयन बुरा गई विषय सुख के द्वारा अपने कामानल को शांत करने में जीव लगा हुआ हे अनंत मत प्राणरक्षणम मत प्रतुर्वधश्च यम प्रयाकृतम ये दो काम आपने किए मेरे प्राण की रक्षा की मेरे पिता का वध किया ये आप ब्रह्मा और आपके भक्त जो ब्रह्मा जी हैं उनके वचनों को सत्य करने के प्रहलाद जी कहते हैं महाराज जीव की इंद्रियां इस जीवात्मा को दुखी करती रहती है इसको जिह्वा अपनी ओर खींचती है श्रोत्र अपनी ओर खींचती है नहीं तन मनस तब कथा सुकुंभनाथा संप्रिय से दुरित दुष्ट की क्रम ये मन आपकी कथा में तो लगता ही नहीं ये पापों के कारण ये दूषित हो रहा है इसमें अनेक दोष भरे हुए हैं अब बताओ आपके स्वरूप का मैं इस मन से कैसे विचार करूं जिहो अपनी ओर खींचती है कि लाओ पकौड़ी अच्छे चटनी ये सारे जिहा को तृप्त करने के सामान एक बार एक जगह गए तो एक सेठानी ने इतने मुरब्बे और अचार निकाल कर रख दिए ये भगवान ये अमुक चीज का महाराज ने है अमुक चीज का आचार्य है और ये अमुक का है और ये भरे रखे सारे अनुमान था क्या केवल जीवा ये चाहती है कभी ये चाहती तो जीवा के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है हरी मिर्च जरूर लेते आना और धनिया भी साथ में चपल कृत कुछ कर्म सकते सब भव्य शपथ में वगैरह पति जैसे किसी पुरुष के अनेक पत्नियां हैं स्त्री हैं और वो अपनी अपनी ओर खींचती हैं उसे तो शांति लेने ले, नहीं लेने देती ऐसे बोलो ये जीव की ये दशा है इंद्रिया इसको नोचती रहती हैं अपने अपने विषय की ओर खींचती रहती हैं बताओ ये जीव क्या करे भगवान का कैसे ध्यान देने मौन व्रत श्रुति तपो तपोधर्मो व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्या प्राया परम पुरुष ते त्यजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवंति तनवाम देखो सर ये तपस्या करना अध्ययन करना अपने धर्म का पालन करना व्याख्यान रहना एकांत में रहना जप करना समाधि लगाना ये क्या चीज है बोलो ये तो मुक्ति के साधन है सर परंतु जो अजितेंद्रीय पुरुष हैं इन्होंने जीविका के साधन इनको बना रखे हैं लोग जाकर के पर्चा बांट देते हैं कि ये महात्मा आए समाधि लगाएंगे शहर में लोग इकट्ठे होते हैं फिर वो फिर उस दो चार दिन के लिए समाधि लगाते हैं उसके बाद रात पैसा चढ़ता है तो जो समाधि आदिक है मोक्ष के साधन उनको पैसे कमाने का साधन बनाया नारद जी प्रहलाद जी कहते हैं तो आज की बात नहीं है पहले भी ऐसे ऐसे कोई विलक्षण जीव रहते होंगे तब तो कह रहे हैं व्रत श्रुति तपो धैन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधयापवर्ग पैसा कमाने के लिए व्याख्यान देना सीखते हैं और पढ़ते हैं लिखते हैं मौन रहते हैं तो ये अजतेंद्रीय पुरुष इनको इन्होंने अपनी जीविका का साधन बनाया परंतु जब इनकी कलई खुल जाती है तो इनकी जीविका भी नहीं चलती फिर बिल्ला जी कहते थोड़े दिन चलती है जब लोग समझ लेते हैं अरे तो ढोंगी है ये कहा <clears throat> एक बार श्री प्रताप जी द्वारा सुना रहे थे कि गंगा किनारे एक कुटिया थी महात्मा की बैरागी महात्मा रहता है ये उसका चेला था जैसे पूर्णिमा होती है अमावस्या होती है तो मेला होता है ना वहां मेला के समय लोग बहुत गंगा स्नान करने को आए थे तो वो जो साधु था महात्मा था वो तो जल्दी स्नान करके अपना तिलक विलक लगा करके बैठ गया अब लोग में स्नान करके तो उनको चरणा मिलते वो रुपया चढ़ा में दर्शन करके चले जाए तब तक उसने बहुत से रुपया इकट्ठे हो गए उसे कमा उसका जो चेला था उन्होंने देखा अभी तो बहुत भीड़ भाड़ है तो अपनी गो सेवा करता रहा झाड़ू लगाता रहा जब सब लोग चले गए तब उसने स्नान करके तिलक लगा करके अपना रामायण का पाठ करने बैठा तो वहां से क्रोध में आकर के वो गुरु उसका आया और एक लाख मारी अरे साले पहले बैठता तो दस बीस रुपया आ जाते अब तक तू अब पाठ करके बैठा जीवन जीवनोप जीवनोपायात्म कवन भगवान बोले प्रहलाद भद्र भद्रम प्री प्रीतो हम ते सुरोत्तम बेटा तुम्हारा कल्याण हो हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं वरम गणेश अब जो तुम चाहते हो हमसे वर मांगो हम कामनाओं की पूरी करने वाले हैं काम पुरुष में हम लड़ाम हम मनुष्य की कामनाओं को पूरी कर देते तो इसलिए हमारा दर्शन दुर्लभ है और फिर जब मेरा दर्शन हो जाए मेरी प्राप्ति हो जाए फिर तप्तम नारती फिर शोभ का कोई अवकाश नहीं क्रीणंती यत माम धीरा सर्वभावेन शाश्वत इस प्रकार भगवान ने कहा प्रेम प्रलोक मानो की बड़े लोक प्रलोभन भगवान ने प्रलोभन बहुत किया प्रहलाद कुछ मांग लो उनसे क्या जानते पर एकांत भगवती निक्षतांत भगवान के अनंत भक्त हो वो प्रहलाद जी भगवान उनसे उन्होंने कुछ मांगने की इच्छा क्या मांगो महाराज आप जब स्वयं आप हमारे सामने करेंगे क्या भक्त योग से सर्व बनता है दया प्रहलाद समझते थे ये सब Monday morning was she did not in my mom watch. भगवान के जब से कुछ मांग लो तो प्रहलाद जी मुस्करा करके बोले प्रहलाद बस ये भगवान मैं तो मोक्ष चाहता हूं मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूं मुझे आप लोन क्यों दे रहे हैं तो मांग बड़े माफ कर लो कुछ हमसे मांग ले कुछ कुछ मांग लो कुछ मांग मेरे लोग भगवान कौन भक्त लक्षण जिज्ञास आप जिनमें देखना चाहते हैं इसमें भक्त का लक्षण है कुछ मांगता है तो करूंगा आप मेरी परीक्षा ले हैं संसार की काम के काम जो आप मुझे प्रलोभन देने चाहते थे मान ले कान पकान पर भक्त पर ध्यान न पाए मैं महाराज आपका निष्काम भक्त हूं आशा कान नहीं सत्य जो अपने स्वामी से जो भगवान से अपने इष्टदेव से कुछ ला है वो भक्त नहीं है न स्वामी पितृ का स्वामी और वो स्वामी नहीं है जो अपने भक्त से सेवा मांगता तो हमारा हमको तो, हमारा आपको तो विलक्षण नहीं है न तो आप हमसे कोई सेवा चाहते हैं और न हम आपसे कोई कामना नहीं करते हम परमात्मा नाम ने राजा राजा राजा राशि का उसके समान हमारा तुम्हारा संबंध नहीं हम आपसे कुछ नहीं चाहते हमारी आपसे कोई कामना नहीं है और आप हमसे कोई सेवा नहीं चाहते बोले अच्छा महाराज को तो आप नहीं चाहते हैं भगवान का

सा उत्पन्ने हो बस इंद्रियाण प्राण आत्मा धर्मो नदी नदी ऋषिस्तेज नति सत्यम यश दर्शन जन्म जब मनुष्य के अंतकरण में मांगने की इच्छा हो जाती है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है कांति नष्ट हो जाती है सब नष्ट हो जाता है पुण्य नष्ट हो जाता है सब उसके नष्ट हो जाते हैं मान हो जाते जब कामना पैदा हो गई फिर के गया मांगने जाता है तो फिर वहां उसका तेज विमुन चरियदात्मान मानव मनस्तान प्रहलाद जी कहते हैं जब कोई जीव सारा अपने मन में से सब इच्छाओं को निकाल के बाहर कर देता वे कुंडली साक्ष वे भगवान फिर आप में और जीव में अंतर क्या रह जाता जब जीव के हृदय में वो इच्छा कामना नहीं रही तो भगवत स्वरूप हो गया भगवत भाई कल्पते नमो भगवते तुभ्यम गुरुपाय महात्मे हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ये बात अंदर के नृसिंह भगवान नैकान्तुन्दे मयजाप्तिराशिषो आशासते दिखा वो बेटा संघात जो मेरे अनंत भक्त होते हैं वो मेरे से कोई वस्तु मांगते नहीं चाहे इसको की न हो या पदों की तुम जैसे इस काम का प्रयोग अथाप मनन में प्रदत्त और तुमको मांग तुमको इच्छा नहीं है पौधे मन तुम धन्यवाद करो वैसे शरणाम भगवान व्यक्तियों के प्रति होकर आओ एक मन का सब काम नहीं क्षति अभावी करे वैचार वैसे भगवान अपने पिता के राज्य मनस्कृत्वायोगेन माम् भोगेन पुण्यम् कुशलेन पापम दोनों पुण्य और पापों को दोनों को दोनों देनी है इनको नष्ट करना है तो प्रार्थानुसार जो भोग प्राप्त हो उनको भोगो तो पुण्य समाप्त हो और पुण्य के बाद अल्लाह तुमने स्तुति की है इसके द्वारा जो मेरी स्तुति करेगा तेरा कोई स्मरण करेगा मेरा स्मरण करेगा वो कर्म बंधन से छूट जाएगा प्रहलाद जी बोले हे भगवान बरम बड़े तथ्य वरदेशान महेश्वरा महाराज मैं भूल गया आपने वर मांगने की बात कही मुझे वर एक मांग अभी भूल की बात क्या है हम भी सामने पड़े हैं कि है भूले क्या चाहते हो कि यजनिंदक पिता ने तो हम अविद्वांस तेज शरण हमारे पिता आपके स्वरूप को नहीं जानते आपकी उन्होंने जो निंदा की इसलिए भगवान उसके द्वारा जो हमारे पिता को नरक न जाना पड़े इसलिए तस्मात पिता में पिए तो दुरंता दुष्टदा भगा भगवान की निंदा करने से तो बड़ा पाप लगता है पर उस उस पिता उस उन पापों से पिता को मुक्त कर दे उनका स्तेंग संतुष्ट सदा कृष्ण भक्त भगवान बोले अरे ये क्या बरमाता तुम्हारे पिता की बात नहीं है इक्कीस पीढ़ियों के शहर तुम्हारे पिता पवित्र त्रिसप्तमी पिता पिता भी सर्पी अरे यद साधुष कहे जाते हो भगवान वही कुल पावन अरे तुम जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हुआ जिसके यहां उत्पन्न हुआ वो तुम्हारा पिता कहीं फिर नरक में जा सकता है त्रिसप्तमी पिता पिता सहते हुआ यद साधुष ग्रहे जातो भगवान भगवान वही कुल पावना तुम तो कुल को तो पवित्र करने वाले हो तुम्हारा पवित्र पिता पवित्र हो जाए इसमें तो क्या आश्चर्य यत्र यत्र मद वक्ता प्रशांता समदर्शन भगवान कहते हैं देखो मेरे भक्त जहां रहते हैं वो संघर्षी होते हैं शांत होते हैं साधु होते हैं साधु कोई गृह कोई रंगे कपड़े वाले नहीं होते साधु तो गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों को भी कह सकते हैं रंगे कपड़े वालों में भी साधु होते हैं एक हीरानंद जी महात्मा थे परमार्थ निकेतन में बहुत जाया करते थे सौ वर्ष से ज्यादा उनकी आयु थी उनके साथ हम कुछ दिन घूमे कानपुर के आसपास आस पास बहुत रहा करते थे उन्होंने एक बार हमको बात बताई कि स्वामी जी एक बार हम कलकत्ते से आ रहे थे तो कलकत्ते से आते समय हमारे मन में ये बात आई कि रेल की पटरी पटरी चलेंगे हरिद्वार में ऐसे इधर उधर कहां जाना है रेल उधर को जा ही रही है दहली को बोला रेल की पटरी पटरी चलेगी तो बस हम बोले रेल की पटरी पटरी चल रही है तो वो रास्ता तो कोई बढ़िया होती नहीं है वो कंकड़ पत्थर से होते हैं इधर उधर तो दो चार दिन चले तो पैरों में कष्ट हो गया पैर सूझ गए इस जंगल में एक छोटा सा स्टेशन था वहां एक स्टेशन मास्टर रहता था उसने दूर से देखा कोई महात्मा आ रहा है तो महात्मा का भक्त था वो दौड़ के गया हमारे चरणों को न पड़ गया उसने देखा तो हमारे पैर छूट रहे बोले महाराज आप आओ चलो निवास करो कुछ दिन ठहरो और हम आपको गाड़ी में बिठाए देंगे बोलो गाड़ी में कम तो नहीं बैठेंगे जाएंगे पैदल पैदल और जाएंगे रेल की पटरी पटरी बोला हमने तो ऐसा मन में संकल्प कर लिया तो कहता अपना संकल्प तुम पूरा करना परंतु दो चार दिन ठहरो कुछ कहते वो हमको आग्रह करके अपने घर ले आए उसके घर हम ठहरे एक महात्मा और आ गया उसे भी अपने घर में ले आए अब हम दो हो गए तो दोनों को भोजन करा देता सेवा करता सब तरह से ध्यान रखता पर उसकी स्त्री जो है एक बार पड़ोस के फिर पूछती नहीं थी ये बात थी एक बार भोजन परोस दे हम लोग भोजन कर लें और दिया एक दिन हमने कहा कि भाई अब कई दिन हो गए अब तो हम जाते नहीं महाराज क्या ये तो आपका घर है एक स्टेशन मास्टर था उसकी बहू थी एक लड़की थी और उसका लड़का कहीं पड़ता था फिर हमने कहा कि भाई देखो तुम तो श्रद्धालु मालूम होते हो पर तुम्हारी स्त्री की श्रद्धा नहीं मालूम है तो स्त्री हाथ जोड़ के खड़ी हो गई महाराज क्या फिर मेरा क्या अपराध अरे और क्या है तू भोजन पुरुष के द्वारा पूछती नहीं तो बोली क्या महाराज आपको कुछ इच्छा रह जाती है तो इच्छा बिल्कुल नहीं रहती पेट खूब भर जाता तो बोली महाराज मैं तो अपने हिसाब से थाली परोस के ठीक ठीक रख देती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि महात्माओं को कोई संकोच तो होता नहीं ये तो महात्माओं का घर है इनकी इच्छा होगी और मांग लें तब वो महात्मा बोले कि फिर इस बात से तो हमारा बड़ा प्रभाव पड़ा उसका कि ये तो बड़ी समझदार है बोले महाराज महात्माओं को संकोच तो होता नहीं और ये तो बड़ी महात्माओं का हम तो आपके भक्त हैं और वो लोग इतने हिसाब से रखती थी कि हमको इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी पर एक मन में बात रहती पूछती क्यों नहीं बोले एक दिन हम दोनों भिक्षा कर रहे थे एक तार आया और तार उस स्टेशन मास्टर ने पढ़ लिया और उसकी बहू ने पढ़ लिया लड़की ने पढ़ लिया रखी और दूसरे दिन फिर तार आया फिर तीनों ने पढ़ लिया और रख दिया हमसे कोई चर्चा नहीं तो बोला हमसे नहीं रहा गया भाई कल भी तुम्हारा तार आया था आज भी आया क्या बात है कल तार आया था क्या थी उसमें महाराज हमारा एक लड़का पड़ता है प्रयागराज ने कहीं बताया कल तार आया था तो उसके बचने की आशा नहीं है जल्दी चले आया महात्मा बोले हमने तत्काल पूछा भी आज क्या आया है कि आज ये आया है तो बिल्कुल ठीक है तो महात्मा बोले कि जल तो कल तुम्हारा एक ही लड़का उसका ये कार आया है कि उसको बहुत बीमार है बचने की आशा नहीं है और तुम्हारे हृदय में इतना धैर्य हमसे कहा करते हैं तुमने बोले महाराज आपके संग का फल क्या होगा आप लोगों ने तो हमको ये बता रखा है कि जब ये चार बात एकत्रित हो जाती हैं देश काल निमित्त और भोग जिस देश में मृत्यु होनी होगी जिस समय में होनी होगी जिस निमित्त से होनी होगी और उसका भोग समाप्त हो गया होगा तो हम ही जाके क्या कर और इनमें से एक भी किसी बात की कमी है तो उसको ही बिगाड़ नहीं सकता तो बोले कि हमको ये कहना पड़ा कि भैया हमने कपड़ा तो हमने रख रखे हैं पर साधु तो तुम ही बोला मुझसे हमको ये कहना पड़ा हम लोगों में इतना धैर्य नहीं है इतना तुम कितना गहरी हो तो गृहस्थियों में भी वो साधु होते भूतस्तम माम मनसी कृपा योगे न माम योगस्व भोग के द्वारा पूर्णम का अक्षय करो ऐसे लोके मदभक्ता उच्चावचेशु भूतेषु न किंचित हो समझ ये पुरुषास्ताम ते भी मदभक्ता भगवान भगवान कहते हैं प्रहलाद जो तुम्हारा तुमसे प्रेम करेंगे तुम्हारी भक्ति करेंगे वो भी मेरे मैं अपना भक्त मानूंगा अतो मद भक्ता नाम मध्य तुम श्रेष्ठ हो सकते भगवान कहते हैं मेरे आज तक जितने भक्त हुए हैं कहते हैं उन सब में श्रेष्ठ में तुमको समझता भगवान ने सब तिलक कर दिया सब भक्तों के ऊपर ये अंग मदस्पर्श न पुत से अपितु प्रेत कार्य यद्यपि तुम्हारे पिता मेरे स्पर्श पा करके तुम्हारे पिता का शरीर पवित्र हो चुका है तो भी वह उनकी उत्तर क्रिया करें और पितृस्थान स्थान आप अपने पिता के सिंहासन पर बैठ तुम तो मत पर हसन कर्माणी करो और मेरे अर्पण करते हुए क्रियाएं करो सब महाराज जी कहते हैं इस प्रकार प्रहलाद जो को जब कहा तो अपने पिता की और देह क्रिया साम्पार्य प्रदायक जो क्रिया है उन्होंने की और फिर ब्राह्मणों ने प्रहलाद का जो है अभिषेक किया उस सिंहासन तथा ब्रह्मा प्रसन्नम निर्हरिम ब्रह्मा जी ने देखा भगवान ने सिंह देखा